कारण न्यायकारी परमात्मा प्रणवध्वनि ध्वनि ओ अंतर प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हर धार्मिक व्यक्ति स्मरण करता है परमात्मा को संबोधित करता है भले ही वो परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा है किंतु अन्य प्रमाणों से उसे स्वीकार करके उससे वार्तालाप करता है उसको सीधे सामने भी संबोधित करता है और परोक्ष रूप से भी उससे कामनाएं करता है संबोधित करता है परमात्मा को संबोधन करने के लिए वैसे तो एक नाम भी पर्याप्त हो सकता है जैसे लोक व्यवहार में किसी एक व्यक्ति का एक नाम हो उतने से हम उसको संबोधित कर लेते हैं उससे संबंधित समस्त काम हमारे हो जाते हैं व्यवहार हो जाते हैं किसी एक शब्द के अनेक नाम होना व्यवहार के लिए अनिवार्य नहीं है एक से भी काम चल सकता है चलता है इसी तरह परमात्मा का भी एक नाम और उसी नाम से हम उसको संबोधित कर सकते हैं समस्त जीवन एक ही नाम पर्याप्त है समस्त प्राणियों के लिए समस्त मनुष्यों के लिए परमात्मा का एक ही नाम पर्याप्त है संबोधन व्यवहार की दृष्टि से लेकिन फिर भी परमात्मा के बहुत से नाम दिए गए हैं परमात्मा को बहुत से नामों से संबोधित किया जाता है उसके पीछे प्रयोजन है भारतीय भाषा में संस्कृत में एक एक वस्तु के अनेक नाम रखे जाते हैं एक तरह का नामकरण होता है दूसरों के द्वारा संकेत रूप में कुछ भी शब्द दे देना उस नाम के अर्थ का वस्तु के अर्थ के साथ में संबंध हो अन्वय हो अनवर्थता हो ये आवश्यक नहीं होता है जैसे हम किसी भी व्यक्ति का कोई नाम रखते हैं माता पिता रखते हैं उसको आजीवन उस नाम से पुकारते हैं लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है वो उस व्यक्ति में घटे या ना घटे ये आवश्यक नहीं होते तो एक तो ये नाम होता है जो दूसरों के द्वारा दिया गया होता है मात्र व्यवहार के लिए दूसरा हम किसी को नाम देते हैं उसके गुणों के अनुसार जैसा गुण वैसे वैसे शब्द नाम उसके लिए रखे जाते ये अनवर्थ होते हैं अर्थ वहां उस वस्तु में व्यक्ति में घटता है इस दृष्टि से प्राचीन भाषा में संस्कृत में एक एक वस्तु के अनेक नाम दिए जाते हैं और वो गुण उसमें घटते हैं चूंकि प्रत्येक वस्तु अनेक गुणों से युक्त होती है अनेक कर्मों से युक्त होती है इसलिए उसके फिर ये गुणवाची अनेक नाम हो जाते हैं और हमारे यहां इसकी बहुत लंबी परंपरा रही है जिस वस्तु के गुणों को बताना हो उसके तत्संबंधी नाम को रख दिया जाता है औषधियों के नामों में भी एक एक औषधि के अनेक नाम आयुर्वेद में मिलते हैं और उन विविध नामों में उस वस्तु का औषधि का गुण धर्म वो स्थूल धर्म भी हो सकता है बाह्य रूप आकृति उसके लाभ भी हो सकते हैं उसका उगने का समय हो सकता है इत्यादि कुछ न कुछ उसमें अनवर्थता देख करके नाम रखे जाते हैं तो इन अनेक नामों के रखने का प्रयोजन होता है वस्तु के स्वरूप का बोध होना उसके बारे में जानकारी होना इसी दृष्टि से परमात्मा के बहुत सारे नाम रखे गए हैं ताकि उन नामों को बोल के उन नामों से परमात्मा को संबोधित करके हम उसके गुणों को जान सकें और जब संबोधन कर रहे हैं तो उस भावना को अपने अंदर बना सकें एक संबोधन होता है केवल व्यवहार के लिए किसी को हमें पास बुलाना है इसलिए उसका नाम पुकारा है गुणवाची शब्दों को भी हम केवल संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं उसके गुण को बताता है लेकिन हम जिस समय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं केवल संकेत के लिए करते हैं उसको बुलाना है उससे कोई चीज लेनी है उसको कोई चीज देनी है उससे कुछ पूछना है संबोधित करते हैं और उन गुणवाची नामों में भी गुण की अर्थ की भावना न रखते हुए हम संबोधन करते हैं जैसे गाय को हम गऊ बोलते हैं गच्छती इति गौ जो गच्छती गमन करती है चलती है तो जिस समय हम गाय को गाय बोलते हैं तो वो अर्थ हमारे मन में नहीं रहता है कि ये चलती है ये जानते हैं हम कि ये चलती है लेकिन जिस समय शब्द बोल रहे होते हैं उस समय वो अर्थ सदा ध्यान में रहे ये नहीं होता कभी कभी होता है ऐसा ही परमात्मा के साथ भी होता रहता है संबोधन के लिए एक नाम पर्याप्त था लेकिन गुणों के बखान के लिए अर्थ की भावना के लिए बहुत से नाम रखे गए लेकिन जब हम उन नामों को बोलते हैं प्रयोग करते हैं तो उसको बस फिर संकेत के रूप में ही रहते हैं कोई बच्चा अपने पिता का मूल नाम तो नहीं बोलता जो कि प्रचलित है लेकिन उनको वो बोलता है पिताजी हे पिता तो पिता नाम ही उसका पड़ जाता है पिता का मतलब रक्षा करने वाला ये भाव साथ में रहे ये अनिवार्य नहीं होता है हो भी सकता है लेकिन शब्द मात्र संबोधन के लिए नहीं होते वो अर्थ की भावना के लिए होते हैं परमात्मा के बहुत सारे नाम रखते हुए भी और उनका प्रयोग करते हुए भी यदि अर्थ की भावना साथ में नहीं है तो वो शब्द कितने भी बड़े अर्थों को रखता हो हमारे लिए वो केवल एक संबोधन मात्र है एक संकेत मात्र है और ऐसी स्थिति में हम परमात्मा के कितने भी नाम बोलते रहे बड़े बड़े बहुत बड़े गुणों वाले नाम बोलते रहे उसको संबोधित करते रहे मूलतः कोई अंतर नहीं आएगा हम उसको ईश्वर बोल दें हम उसको परमेश्वर बोल दें हम उसको भगवान बोल दें हम उसको ओम बोल दें अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आ रही है संबोधन मात्र पर्याय के रूप में चाहे ये बोल दो चाहे वो बोल दो शब्द केवल शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और धार्मिक व्यक्ति जो परमात्मा का जप करता है स्तुति करता है बहुधा वो इन शब्दों को ले लेता है और बोलता रहता है बोलता रहता है उसे ये प्रतीति होती है कि विभिन्न शब्दों से परमात्मा को उच्चारण करने से संबोधित करने से कुछ अधिक लाभ होगा ठीक है भिन्न भिन्न शब्दों से परमात्मा को संबोधित करने से अधिक लाभ होता है लेकिन कब जब हम उन शब्दों को मात्र संकेत रूप में प्रयोग ना कर रहे हो उनके अर्थ की भावना भी कर रहे हो तो महर्षि दयानंद ने आर्य विनय के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र के व्याख्यान में परमात्मा को बहुत सारे शब्दों से संबोधित किया है आगे भी वेद मंत्रों में बहुत संबोधन दिए हैं यहां एक साथ बहुत से संबोधन दिए हैं ये संबोधन केवल संबोधन के लिए नहीं है उच्चारण के लिए संकेत के लिए नहीं है ये अर्थ की भावना के लिए है नहीं तो संबोधन के लिए मात्र हो तो बाकी शब्द व्यर्थ हैं एक ही पर्याप्त था ये शब्द हमें परमात्मा के स्वरूप को समझने में जानने में सहायता करते हैं और जब जब परमात्मा को हम संबोधित करें वो अर्थ हमारे मन में रहे तो उससे हमारे पे बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे पर परमात्मा का संस्कार पड़ता है हम परमात्मा को उसी रूप में स्वीकारने लगते हैं और गहराई से और ऐसा होने से हमारा कर्म भी परिवर्तित होता है हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है परमात्मा को जितना अच्छा और ठीक तरह हम समझेंगे उतना अधिक अच्छे तरह हम परमात्मा को मानेंगे और उसके अनुरूप व्यवहार करने लगेंगे अर्थ की भावना से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है उन शब्दों को बोलते हुए या तो अर्थ की भावना की नहीं जा रही है अथवा अर्थ की भावना गलत की जा रही है अथवा थोड़ी की जा रही है इसलिए परमात्मा को जिन शब्दों से हमें संबोधित करना है अर्थ की भावना के लिए उसका अर्थ जानना है और अर्थ की भावना ठीक हो शुद्ध हो जैसा परमात्मा है वैसी ही अर्थ की भावना हो अशुद्ध ना हो जाए ये भी आवश्यक है परमात्मा को बहुत से संबोधन महर्षि ने दिए उनमें से आज जिस पे हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो अगले क्रम वाला है न्यायकारिन हे न्यायकारिन हे न्याय को करने वाले न्याय शब्द पक्षपात रहित व्यवहार को बताता है न्याय अर्थात पक्षपात रहित व्यवहार जो न्यायकारी है इसका मतलब है वो पक्षपात रहित व्यवहार कर रहा है और इसको व्यापक करें तो पक्षपात रहित व्यवहार ही उचित व्यवहार है तो न्याय अर्थात पक्षपात रहित व्यवहार अर्थात उचित व्यवहार और जो उचित है पक्षपात रहित है न्याय युक्त है बस वही धर्म है धर्म की अंतिम और निर्दुष्ट परिभाषा ये कि जो उचित है वो करना जो उचित है वो स्वीकार करना तो धर्म वही है जो उचित है युक्त है उचित वही है जो पक्षपात रहित है और वही न्याय है तो परमात्मा को जब हम न्यायकारी स्वीकारते हैं तो उसका प्रभाव फिर हमारे पे उसी तरह होता है परमात्मा का ये न्यायकारी गुण उसका कर्म उसका स्वभाव कह लीजिए ये सबसे महत्वपूर्ण है परमात्मा के अन्य गुण अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हुए भी हमारे साथ में उसका संबंध न्यायकारी के रूप में है अन्य गुणों का जिनका हमारे साथ में संबंध है उसमें भी न्यायकारिता जुड़ी हुई है परमात्मा हमें बहुत कुछ देता है यदि देने वाले के साथ में न्यायकारिता न जुड़ी हो तो देने वाला किस प्रकार का हमें प्रतीत होगा इन सब गुणों के माध्यम से संबोधनों से हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा अति श्रद्धा पैदा करना चाह रहे हैं उसको बनाए रखना चाह रहे हैं यदि हम ये स्वीकार करें परमात्मा बहुत देता है परमात्मा ने बहुत दिया है लेकिन साथ में जुड़ा हुआ हो कि जिसको चाहे जैसा दे देता है न्यायपूर्वक नहीं पक्षपात रहित होके नहीं जिसको किसी को कुछ भी दे दिया ये मानेंगे तो पक्षपात हुआ क्यों किसी को अधिक दिया क्यों किसी को कम दिया तो परमात्मा कितना भी देता हो वो देने वाला है ये यदि हम सोचेंगे और साथ में न्यायकारिता नहीं लाएंगे तो उस देने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो पाएगी हम सोच सकते हैं या कह सकते हैं जैसा कि लोक में होता है कोई व्यक्ति हमें खूब दे रहा है दूसरों को नहीं दे रहा है योग्यों को भी तो कोई बात नहीं मेरे को मेरी योग्यता से भी अधिक दे रहा है तो हम उसके प्रति बहुत आदर युक्त हो जाते हैं उसके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं उसका बहुत सम्मान करते हैं मान देते हैं उसको उसे अपना अत्यंत प्रिय मानते हैं हितैषी मानते हैं और निर्भय भी हो सकते हैं संतुष्ट हो सकते हैं उसके प्रति लेकिन पूर्णता यहां कभी नहीं आ सकती परमात्मा की न्यायकारिता के साथ में कई बातें जुड़ी हैं परमात्मा को जब हम न्यायकारी कहते हैं तो उससे हमारे अंदर निर्भयता आती है पूर्ण निर्भयता आती है यदि लौकिक व्यक्ति की तरह परमात्मा अन्याय पूर्वक हमें बहुत दे रहा हो अन्यों को भले ही कम दे रहा हो और हम ये मान लें कि परमात्मा मेरे को तो दे ही रहा है और आगे भी देता रहेगा लेकिन इससे परमात्मा के प्रति पूर्ण आश्वस्त भाव नहीं हो सकता हम पूरे निर्भय नहीं हो सकते मन में आएगा जैसे लौकिक व्यक्ति के प्रति आएगा कि ये मेरे को अभी दे रहा है और हमें पता लग रहा है कि ये अन्यायपूर्वक दे रहा है मुझे अन्यायपूर्वक सहयोग कर रहा है तो ये व्यक्ति जैसे अभी अन्यों को कम दे रहा है भविष्य में मेरे को भी तो कम दे सकता है ये अन्याय कर रहा है तो इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा यहां पर कोई ना कोई प्रयोजन होगा क्यों मेरे को ही ज्यादा दे रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं फिर भी मुझे क्यों इतना मान दे रहा है क्यों मुझे इतना धन दे रहा है क्यों इतनी सुविधाएं दे रहा है प्रश्न उठ खड़ा होगा भले ही वो कितना आश्वस्त कर दे कि आपको जिंदगी भर ये सुविधाएं दूंगा ये करूंगा वो करूंगा आप निश्चिंत रहो दे भी रहा है और हम एक सीमा तक आश्वस्त भी हो जाते हैं लेकिन पूर्ण निर्भयता पूर्ण विश्वास उस व्यक्ति पर कभी नहीं होगा आशंका पैदा होगी ही ये क्यों दे रहा है मेरे को और यदि इसके लिए सब समान है ये केवल परोपकार के लिए दे रहा है तो दूसरों को क्यों नहीं दे रहा है मेरे जैसे और भी हैं या मेरे से अच्छे और हैं ये जो मेरे से कम है वहां यथा योग्य तो नहीं दे रहा है इसका कोई ना कोई प्रयोजन स्वार्थ होगा और स्वार्थ न भी माने तो संभावना है आज ये अन्याय पूर्वक मेरे को इतना दे रहा है तो कल हो सकता है ना भी दे जैसे औरों को नहीं दे रहा है इसके यहां कोई नियम तो है नहीं इसको देना है इसको नहीं देना है किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया और अनियम में अव्यवस्था में कभी पूर्ण निर्भयता नहीं आ सकती तो केवल कोई व्यक्ति हमें दे रहा है इतने मात्र से हम थोड़े निर्भय आश्वस्त हो जाएं लेकिन पूर्ण निर्भयता निशंकता कभी नहीं आ सकती ये का ये परमात्मा के साथ लगेगा परमात्मा बहुत देता है लेकिन न्यायपूर्वक देता है न्यायकारिता के साथ जो निर्भयता जुड़ी हुई है विश्वास जुड़ा हुआ है आश्वस्ति जुड़ी हुई है वो परमात्मा के अन्य सब गुणों के साथ ऐसे ही घटेगी वो रक्षक है तो न्यायपूर्वक रक्षक है वो ज्ञान को देता है तो न्यायपूर्वक ज्ञान को देता है वो सृष्टि को बनाता है तो न्यायपूर्वक बनाता है वो प्रार्थना को स्वीकार करता है तो वहां भी उसका न्याय है वहां भी कुछ नियम है नहीं तो अच्छे अच्छे साधक अच्छे अच्छे परमात्मा की स्तुति करने वाले परमात्मा से वो कामनाएं करने लगते हैं प्रार्थनाएं करने लगते हैं जो कि परमात्मा पूरी ही नहीं करता अन्याय का भाव आ ही जाएगा मैं ईश्वर का सच्चा भक्त हूं ईश्वर को ठीक रूप में मान रहा हूं बहुत सारे ठीक शब्दों को बोल रहा हूं लेकिन न्याय की बात नहीं मैं न्यायपूर्वक मांग रहा हूं या नहीं जब साधक को यह निश्चय हो जाए कि परमात्मा न्यायकारी है वो अन्याय करता ही नहीं है वो आनंद भी देगा तो न्याय से देगा सब कुछ न्यायपूर्वक है तो उससे प्रार्थना से पहले सोचेगा कि मेरी प्रार्थना न्यायपूर्ण है या नहीं है वो स्तुति भी करेगा तो बड़ी बड़ी स्तुतियां यूं ही नहीं करने लग जाएगा वो सोचेगा कि ये जो स्तुति कर रहा हूं परमात्मा ऐसा है या नहीं है क्योंकि परमात्मा तो न्यायकारी है न्याय को पसंद करता है अब मैं अनुचित रूप से परमात्मा की बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करने लगूं और सोचूं कि परमात्मा इससे मेरे से प्रसन्न होगा मेरे पे कृपा करेगा मैं परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त हो जाऊंगा तो जो परमात्मा को न्यायकारी मानता है वो परमात्मा की अतिशयोक्ति पूर्ण स्तुति कभी नहीं करेगा तो परमात्मा न्यायकारी है परमात्मा कितना भी ज्ञानवान हो यदि न्यायकारिता साथ में नहीं जुड़ी है तो उसका ज्ञानवान होना हमारे लिए शांति का कारण नहीं बनेगा निर्भयता का कारण नहीं बनेगा एक व्यक्ति खूब जानता हो एक व्यक्ति कम जानता हो जो अधिक जानता है वो अन्यायकारी है और जो कम जानता है वो न्यायकारी है दोनों व्यक्ति हमारे सामने हम किस पर विश्वास करेंगे हम किसकी सन्निधि में निर्भय रहेंगे ज्ञान कोई आधार नहीं रखता यदि न्यायकारिता साथ में नहीं है उल्टा होगा दो व्यक्ति अन्यायकारी हैं उसमें एक अधिक जानता है और एक कम जानता है तो जो अधिक जानता है और अन्यायकारी है उससे हम अधिक डरेंगे उसके साथ निर्भय नहीं हो सकते हम क्योंकि तो पता है इसका ज्ञान अधिक है तो यह अन्याय भी अधिक करेगा ये अधिक अन्याय कर सकता है कभी आश्वस्ति नहीं होगी तो परमात्मा सर्वज्ञ है ज्ञान ज्ञानवान है उसका तब तक हमारे लिए कोई महत्व नहीं है जब तक कि वो न्यायकारी ना हो हम उसके पास जाकर के निश्चिंत नहीं हो सकते परमात्मा के समस्त गुणों को आप देख लीजिए उन सब जगह आप न्यायकारिता को हटा करके उसको देखिए सब गुण परमात्मा के व्यर्थ प्रतीत होंगे श्रद्धा पैदा नहीं करेंगे तो परमात्मा को न्यायकारी मानना इतना महत्वपूर्ण है इसके होने पे परमात्मा के सब गुण सार्थक हैं अल्प ज्ञान वाला अल्प धन वाला अल्प बल वाला अल्प देने वाला न्यायकारी व्यक्ति हमें पसंद होता है तो इसलिए परमात्मा को कहा हे परमात्मा आप न्यायकारिण हैं न्याय करते हैं परमात्मा का न्याय बहुत विस्तृत है और बहुत क्षेत्रों से युक्त है सामान्यतया हम न्याय परमात्मा का कहा मानते हैं कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल हमें देता है अच्छे कर्मों का फल अच्छा बुरे का बुरा यथा योग्य और हमारे साथ भी हम यही समझते हैं अन्यों के साथ भी फिर समझते हैं अन्यों के भी कर्मों का उचित फल वो देता है अर्थात जो करने वाला है उसके साथ में न्यायकारिता को हम जोड़ते हैं कर्म के साथ में परमात्मा की न्यायकारिता कर्म के अतिरिक्त भोग के साथ में भी है समाज के अंदर न्यायकारिता करने पर ही अधिक केंद्रित रहती है हमने किसी के साथ उचित व्यवहार किया परोपकार किया उसका तो हमने पुण्य किया हमारे साथ परमात्मा का न्याय काम कर रहा है लेकिन जिसका हमने उपकार किया उसके साथ भी परमात्मा का कोई न्याय काम कर रहा है हम प्राय नहीं सोचते विचार ही नहीं आता हमने किसी को दान दिया धन का विद्या का सेवा का हम अपने लिए सोचते हैं कि मैंने अच्छा किया है तो परमात्मा का यहां न्याय काम कर रहा है लेकिन दूसरे ने जो लिया है वहां भी परमात्मा का कोई न्याय काम कर रहा है यह हम नहीं सोचते पुण्य के संदर्भ में सहयोग के संदर्भ में असहयोग में दूसरे को हानि पहुंचाने में फिर भी हम सोचते हैं एक व्यक्ति ने दूसरे को बाधा खड़ी कर दी उसकी हत्या कर दी उसके हाथ पैर तोड़ दिए उसकी वस्तुएं छीन ली तो ये जो हमने गलत कर्म किया इसका फल परमात्मा देगा यहां न्यायकारिता को हम जोड़ते हैं और जिसका धन छिना है जिसके हाथ पैर टूटे हैं या जो मर गया है उसके साथ में तो प्राय उसके साथ हम नहीं जोड़ते पर कुछ उसके साथ जोड़ते भी हैं कि नहीं उसके साथ हुआ है उस वहां भी तो ईश्वर कुछ न्याय करेगा वहां भी तो ईश्वर का न्याय काम कर रहा है यदि मैंने अन्याय पूर्वक किसी की हत्या कर दी है उसका जीवन छीन लिया उसके साधन छीन लिए तो मेरे को तो दंड मिलेगा उसके साथ भी तो न्याय होना चाहिए तो व्यवहार में कर्म में दोनों पक्ष होते हैं एक करने वाला और एक उससे प्रभावित होने वाला तो जो प्रभावित वह होने वाला है उसके साथ भी परमात्मा का न्याय चलता है तो जो पुण्य वाला संदर्भ है परोपकार वाला संदर्भ में उससे हमारे से जो प्रभावित हो रहा है उससे जुड़ा हुआ ईश्वर का न्याय भी चल रहा होता है यह हमें स्वीकारना होगा पुण्य के संदर्भ में प्राय हम सोचते ही नहीं है अधर्म के संदर्भ में सोच लेते हैं कि उसको पीड़ा हुई है तो कुछ न्याय वहां भी परमात्मा करता है लेकिन परमात्मा का न्याय दोनों तरफ चलता है पूरी तरह हम जो नए कर्म कर रहे हैं उसका ज्ञान उसको है उसके अनुसार वो हमें फल देगा और फिर जो हमने भोगा है उस पर भी उसकी दृष्टि है उसको भी वो जानता है चाहे सुख सुविधाएं भोगी हैं या हमें बाधा मिली है दूसरों से अन्याय पूर्वक जो भी हुआ है न्याय पूर्वक जो भी है उसका भी पूरा हिसाब और न्याय परमात्मा करता है और ये दूसरा पक्ष भी परमात्मा को न्यायकारी मानने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है इसकी अगर हम उपेक्षा करेंगे तो ईश्वर को हम अलग तरह से मानेंगे और हमारे व्यवहार भी अलग तरह के होंगे परमात्मा की न्यायकारिता मन में हम रखें और प्रयास करें परमात्मा को न्यायकारी अधिक से अधिक समझने का अब इस विषय में और भी बहुत सी बातें हैं जो आगे रहेंगी उन पर और ध्यान केंद्रित करेंगे लेकिन परमात्मा को हम न्यायकारी माने ये भाव अवश्य धार्मिक के मन में आ जाना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है हमारी दृष्टि से तो मन में भावना रखते हुए प्रभु का स्मरण ओम का उच्चारण ओ